और अगर तुम सफर पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला न मिले तो अदायगी की जमानत के तौर पर रहन कब्जे में रख लिए जाएं हां अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत ठीक ठीक अदा करे और अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है और गवाही को न छुपाओ और जो गवाही को छुपाए वो गुनाहगार दिल का हामिल है اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے